करूं तक न बढ़ाई कहते हैं यदि मैं ऐसा करूं तो इसमें भी कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं हम जब कहते हैं इतना सब करूं तुमको भी पटक दूं सेना मार दूं या सब नगर को तुम्हारे चौपट कर दूं ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं ये तो एक खेल जरा सी बात है क्यों कि कहते हुए बधे नहीं कछ मनसाई हुए मैंने मरा हुआ मरे हुए को मारना कोई बड़े पुरुषार्थ की बात नहीं अब देखो ये मरे हुए का क्या तात्पर्य है मुए बधे मरे हुए व्यक्ति को मारना नहीं कथमनसाई इसमें कोई मानवीय पुरुषार्थ की बात नहीं कि बात सत्यकारी बड़ा वीर है किसी को मार दिया अब अंगद कहते हैं कि तुम रावण के लिए कि तुम तो मरे मराए भरे हो ये बात लगभग उसी प्रकार से जैसे गीता में देखते हैं ग्यारहवें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं अरे देखो ये सब राजा लोग खड़े हैं ये तो सब मरे मराए खड़े हैं ये देखो <clears throat> अर्जुन ने देखा विराट रूप भगवान के मुख में तो सारी सेना और सारे राजा लोग भगवान के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं कुछ तो भगवान के दाढ़ों में छिपके हुए हैं और कुछ जीव में छिपके हुए हैं और कुछ जो है उधर में चले गए हैं किस प्रकार का उनको देखते देखते देते हैं वो सब सब इस प्रकार से उनके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखा ये सब कुछ तुम्हें दिखाई देते हैं कोई जीवित है हम्म, ये सब मरे मराए फिर युद्ध किस ये होगा कि निमित्त मात्र भव सभ्यता दुनिया को दिखाने के लिए तुम युद्ध करो और तुम निमित्त बन जाओ दो बार यही कहेंगे कि अर्जुन बढ़ा दिया था उसने इसने अठारह क्षण से छोड़ी सबकी सत्ता से बंद करा दिया तो अर्जुन का इसके अंदर ने भगवान राम से चल करके कहा कि स्वयं सिद्ध सबका नाथ मोहनी आदर दे अरे आपके तो ये सबके सब तो तो रावण रावण मार रहा तो आपका स्वयं सिद्ध काज है पिताजी का प्राप्त करना इसमें कोई खास बात थोड़ी है हमको तो दूध बना करके आप भेज रहे हो तो ये तो निमित्त मात्र यश देने मात्र के लिए है कि अंगद गया तो अंगद को रावण के सामने अंगद रावण से तो अंगद ही ज्यादा शक्तिशाली था रावण से तो हनुमान ही ज्यादा शक्तिशाली थे औरों की तो बात क्या तो ये दिखाने के लिए ये जो है वो हमको ठीक किया तो अब ये कहते कि रावण मरा हुआ किस प्रकार से है तो नियुक्त जो वचन है अपने प्राण चार ग्रंथों में या अपने शास्त्र ग्रंथों में <clears throat> वर्णन आता है कि कितने किस प्रकार के कौन से व्यक्ति मृत तुल्य है मरे के बराबर कितने हैं तो कहीं कहीं तो पांच कहीं कहीं दस कहीं कहीं आठ कई जगह इस प्रकार का वर्णन जहाँ कहीं प्रसंग आता है वहीं लोग कन्या ने कह दिया अरे कितने कितने लोग तो मरे के समाज कुछ गिना दिए वहां पर तुलसीदास तो जी ने सारे शास्त्र पढ़े थे तो उनको सबको देखा किसने किसको मरा मरा बताया तो देखा कि सब टोटल मिलाकर के चौदह प्रकार के तो तुलसीदास ने चौदह प्रकार के लोगों को यह गिना दिया तो देखो ये चौदह प्रकार के व्यक्ति जो है वो हो मरे के बराबर मरे ही समझो जैसे कौल पहला एक कौल दूसरा काम बस तीसरा कपिन चौथा विमुड़ा अति चरित्र पांचवा अजसी छठा अति बूढ़ा सातवा सदा रोगवत आठवा संतत क्रोधी नवा विष्णु विमुख दसवा श्रुति संत विरोधी ग्यारहवा तन पोषक बारहवा निंदक तेरहवा अजखान चौदहवा जीवत सौ सम चौदह प्राणी ये चौदह प्राणी जो है ये देखने में तो जीव दिखाई देते हैं लेकिन मर के बराबर जैसे एक बहुत पते की है इस प्रकार की ये भी बातें जाननी चाहिए नीत की बातें बहुत काम की है उनको देखना चाहिए कि वहाँ क्या क्या नीत वचन जो है लोगों ने विद्वानों ने प्राचीन काल में खोज खोज करके ये बातें रखी तो कहते ये जो है चौदह प्रकार के व्यक्ति मृत्यु है पहला कौल करके बोलते हैं और तुलसीदास की ये प्रथा है कि जिससे अब जैसे वो फूक रखा जा करके रावण से बोलती जा करके तो जो कुछ कहती जो दोष उसमें दिखाती है तो उनमें सबसे पहला दोष करत पान हाँ, सोवत दिन राती जब मदरा पान करते हो दिन रात होते हो और ऐसे लोगों का राज्य नहीं कर सकता तो उसमें ये युग का वचन था कि राजाओं कौन राजाओं का राज्य बचा रहता है और किनका राज्य नष्ट हो जाता है तो उसमें बताया कि मतरा जरा पान करने वाले जनराज होने वाले हैं और जिनको अपने राज्य का होते ही उनका राज्य नहीं रह सकता तो सबसे पहला जो दुर्गुण होता है उसको जो मुख्य दुर्गुण जिसमें की बोलना होता है वो पहले बोलते हैं ऐसे करके कौल करके जो बोला इसके मैंने मुख्य रूप से रावण में चौदह प्राणियों में जो मृत्यु रहे हैं उनमें से रावण कौल है कौल कौन है ये वामपंथी लोगों में से प्राचीन काल में एक कौल आचार्य हो गए उनका नाम था कौल कौलाचार्य उन्होंने ग्रंथ की रचना करी थी वामपंथी ग्रंथ लिखा उन्होंने उसका नाम था कौलारणव कौलारणव वामपंथी तपस्या पूजा अकाल भवन की पूजा करके की जाती है उसका सबका उसमें बढ़ है तो ये ऐसे लोग हैं ये वामपंथी लोग वीर का आचरण करने वाले ये कौल कहलाते हैं तो रावण का भी इसी प्रकार से ये है कि सिर काट करके हवन करके जो उसने काल भैरों की जो रुद्र की पूजा उपासना की पूजा की तो ये इसी प्रकार का है अपने जो दक्षिण पंथी या शासन अपने वेद मत है उसके अनुसार ये वामपंथ का आचरण करने वाले व्यक्ति जीवित ही मरे के है माने उनकी निंदा इस प्रकार की है कि उनका वो व्यर्थ है बिल्कुल उनका जीवन व्यर्थ है इनका परिणाम क्या होगा ऐसे लोगों का ऐसा नहीं कोई ऐसी करने वाले तप करने वाले व्यक्तियों को कोई शब्द प्राप्त होगा कि मुक्ति प्राप्त होगी ऐसे लोगों को जो है नरक प्राप्त होगा अधोगति इनको प्राप्त होगी तो जिन लोगों की अधोगति प्राप्त होनी है नरक आदि जिनको जाना है वे लोग मृत तुल्य माने जाते हैं पापी आदि जो है इसी कुट में आते हैं ये भी पाप करना ही है कौन की तपस्या इस प्रकार की वामपंथी तप जो ये है ये पाप कर्म है इसलिए कहते हैं कौल पहला जो है मरण कुंडी है दूसरा काम बस जो व्यक्ति नाना कामनाओं में ग्रसित है वो व्यक्ति भी मरण कुंडी है काम बस कृपण कपण कृपण मन कपण कृपण के माने माने जिसके पास धन संपत्ति हो न स्वयं खा सके न दूसरे को खाने दे ऐसा कपाण व्यक्ति है वो भी मृत तुल्य है अब ये सब क्यों मृत तुल्य है स्वयं अपनी बुद्धि लगा लगा करके तो देखो इन लोगों ने ऋषियों ने मुनियों ने खोजा क्या ये तुल्य मरण विमूढ़ा माने जो बहुत ही मूल है मूल तो मूल विमूल है मूल व्यक्ति हो तो ये हो सकता है धीरे धीरे वो अपने शास्त्रों का अध्ययन करे सत्संग आदि करे तो उसकी मूलता दूर हो जाए लेकिन विमूल वो व्यक्ति है जो किसी न शास्त्र की बात को माने न गुरु की बात को माने न सत्संग की बात को माने न संत की बात को माने ऐसे व्यक्ति को विमूढ़ कहते हैं और वो मरण तो लिए मृत तो लिए कि माने उसका उद्धार कैसे होगा वो तो मरे के बराबर उसका उद्धार ही नहीं हो सकती अति दरिद्र माने दरिद्री बहुत दरिद्री दरिद्री के माने वैसे अर्थ भी लगाया जाता है जिन लोगों का धन संपत्ति बहुत कम है भूखों मर रहे हैं वो दरिद्री कहलाते हैं लेकिन अपने शास्त्र में दरिद्री की जो परिभाषा दी तो संतों ने ऋषियों ने कहा कि जिनकी की तृष्णा बहुत है उनको दरिद्री कहते हैं तृष्णा तृष्णा माने और प्राप्त हो जाए और प्राप्त हो जाए और प्राप्त हो जाए ऐसे करके धन संपत्ति भौतिक सुख की प्राप्त करने की बहुत कामना जो कभी प्रसन्न होती हो ऐसी कामना रखने वाले व्यक्ति दरिद्री कहलाते हैं जैसे करोड़ों की संपत्ति उनके पास हो लेकिन कृष्णा नहीं उनकी मिट्टी उनको ये नहीं लगता कि जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से पुरुषार्थ से उसमें हमें संतोष करना चाहिए तो संतोष की मृत्यु नहीं आती कृष्णा बनी रहती है तो वो दरिद्र ही बने रहते हैं अति दरिद्र अजसी अजसी माने जिसका की कोई जस नहीं बना बदनाम अजसी माने बदनाम लोग ये बदनाम लोग है वो भी मर्द तुल्य है उसमें भी गीता में भी भगवान ने कहा अर्जुन से कहा कि देखो अगर तुम धर्म का मार्ग छोड़ देते हो तो तुम्हारा जो है वो निंदा होगी और निंदा जो है वो मरणागति थे वो तो मरण से भी ज्यादा खराब है इसलिए निंदा मरण से भी ज्यादा खराब है इसलिए मरण तो हो ही गया निंदनीय व्यक्ति जो है वो मृतुल्य हो गया अजसी अति बूढ़ा और बूढ़े में ज्यादा बूढ़ा हो गया इतना वृद्ध हो गया इतना वृद्ध हो गया अब वो खड़े भी नहीं हो पाता चारपाई से लग गया दूसरे लोग उठावे बैठाने तब उतरे फिर अब उसमें उसमें मरने में क्या कसर है उसके वो तो मरे के बराबर है ही अति बूढ़ा और सदा रोग बस न बूढ़ा हो तो क्या उसको बाल काल से युवा काल में ही ऐसा रोग लग जाए तो रोग छूटने वाला लो हो चाहे जितनी अच्छी संख्या अवसर दे दो कोई औसत फायदा न करते हो रोग उसका बने ही रहे छूटे नहीं तो रुग्ण व्यक्ति जो है उसके शरीर में भी ताकत नहीं होगी बुद्धि भी काम नहीं करेगी शरीर भी काम नहीं करेगा जीवन उसका व्यर्थ है तो जीवन व्यर्थ होने के नाते जीवित होता हुआ बड़ा दिखाई दे लेकिन मृत तो वो भी कथा रोग बस संतक क्रोधी वो भी मृत तुल्य तो है जो हमेशा क्रोध आता रहता बात बात पर किसी किसी क्रोधी स्वभाव होता सदा क्रोध ही करता है हर बात से चढ़ता रहता है गट वचन बोलता रहता है संतत्व निरंतर सदा क्रोध का उसके कभी उसको कभी दया भाव कृपा भाव क्षमा भाव कभी आवे ही नहीं कभी शांत भाव आवे नहीं बात बात तक क्रोध तो ही आता रहे हर बात उसे खराब ही लगती रहे हर व्यक्ति के दोष ही दिखाई देते रहे ऐसा व्यक्ति जो है वो मरण तुल्य हो गई क्रोध पाप कर मूल मैंने क्रोध करने वाला व्यक्ति फिर पाप में प्रवृत्त होता है और वो क्रोध पाप की जड़ जब क्रोधी व्यक्ति होगी तो दूसरे की निंदा करेगा उसका अपमान करेगा तो ये सब पाप है गीता में भाष्य लिखते हुए शंकराचार्य जी के स्थान पर लिखते हैं कि क्रोधी व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है बुद्धि नहीं रह जाती और उस बुद्धि न जाने पर वो क्या करता है उन गुरुजनों का अपमान करने में भी उसे शर्म नहीं आती संकोच नहीं लगता जो कि उसके लिए सारे जीवन पूजनी है शंकराचार्य जी का वो हो क्रोध का दोष बताते हैं जो लोग पूजनीय है जिनकी पूजा करते भी हैं पूजनीय भी मानते हैं माता पिता है गुरु आदि हैं और वयोवृद्ध लोग आदि हैं ज्ञान वृद्ध लोग हैं ये सब पूजनीय व्यक्ति हैं लेकिन उनका भी वो अपमान करने में संकोच नहीं करता उसको भी गाली दे देगा उसको भी कठिन वचन बोल देगा ये क्रोध का परिणाम यानी क्रोध में बुद्धि बिगड़ गई उसे होश नहीं रहा कि हम किससे क्या बात कह रहे हैं इससे इस प्रकार की बोल बोलनी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए तो ऐसा व्यक्ति कहते हैं शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि ऐसा निंदनीय कार्य करने वाला पाप कर्म करने वाला क्रोध और क्रोध से प्रति पाप कर्म करने वाला ये व्यक्ति जो है वो जीवित ही मरे के बराबर है इसलिए क्रोध आदि से सावधान रहना चाहिए आचार्य लोग इसलिए क्रोध का वर्णन इस प्रकार से करते हैं समझाते हैं जिससे कि व्यक्ति को समझ में आ जाए कि नहीं करने चाहिए अपने आप को बचाए रखे आप से बचाए रखे संतत क्रोधी और कहते विष्णु विमुख विष्णु विमुख नारायण भगवान परम परमात्मा है उसका विरोध करने वाला जो है विष्णु विमुख विमुख माने विरोध करने वाला है परमात्मा परमात्मा कहाँ है ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो है ये सूचित इससे होता ये है कि वो व्यक्ति बेचारा उसकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है तो बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वो खोखला है उसको यही समझ में नहीं आता कि परमात्मा भी है और वो सर्वशक्तिमान है और यथार्थ में सत अगर कोई है तो परमात्मा ही है जिसे तुम स्वीकार नहीं करते जो सत्य को स्वीकार न करे मिथ्या कोई सत्य माने रहे सारे जीवन भ्रम में ही जीवन जीता रहे वो कोई जीवित व्यक्ति है वो तो मरी के बराबर इसलिए विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी किसी प्रकार से श्रुतियों का संत का विरोधी इनको एक साथ ले लो संत का विरोधी भी और श्रुति का विरोधी भी तो श्रुति विरोधी रावण श्रुति विरोधी कौल जो है वो जो कौल पंथ है या वामपंथी पंथ है वो श्रुति विरोधी इसलिए यहाँ साफ साफ आ गया यदि कोई श्रुति का विरोध करने वाला है रावण को दिखाते हैं सब रावण का पूरा पालकान से लेकर जहाँ तक रावण का आता सब देखो तो बहुत बातें इसमें जितनी है वो सब उसमें मिल जाएंगी रावण में रावण की क्या हुआ जब रावण का राज्य स्थापित हो गया तीनों लोगों ने विजय प्राप्त कर ली सब लोगों से उसने क्या आदेश दे दिया कुंभकर्ण इत्यादि से कि सबको जहाँ कहीं भी देखो कि जहाँ यज्ञ हो रहा हो विध्वंस कर दो जहाँ कहीं सपनों का शास्त्रों का अध्ययन हो रहा हो उन सब शास्त्रों को जला दो हाथ फेंको उनको सबको ये सब आदेश है सरकार तब इसके माने ये कि ये नित्य स्तुति का विरोधी है स्तुति को मानते हैं और संत विरोधी वे संत जो के शास्त्र के मत का प्रतिपादन करने वाले हैं <clears throat> परमात्मा का ज्ञान भक्ति त्याग देने वाले उन्हीं का विरोध करे जब ही का विरोध करेगा तो वो व्यक्ति क्या होगा वो संत थोड़े हो सकता है वो स्वयं असंत ही होगा और जब स्वयं असंत है संत विरोधी असंत जीवन जी रहा है स्वतंत्र जीवन के माने वो हो दुराचारी भ्रष्टाचारी निकृष्ट मूल्यहीन जीवन उसका है और वो मूल्यहीन जीवन मत तुल्य है यदि मनुष्य ने जीवन के जो सामान्य मूल या मध्यम कोट के मूल्य या उच्च मूल्य जीवन में प्रकट नहीं हुए तो उसका व्यक्ति का जीवन मूल्यहीन है वैल्यूलेस लाइफ न कोई जो है उसको एथिकल वैल्यूज हैं रिलीजियस वैल्यूज हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं किसी प्रकार की कोई वैल्यू जीवन में है ही नहीं तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे वो जीवित ही मरी के बराबर ही इसलिए श्रुति संत विरोधी तन पोषक और जो तन का पोषण अपने शरीर का पोषण करने वाला शरीर का पोषण तो सब करते हैं नाते धोते हैं खाते पीते हैं इन सब तन का पोषण करना ही पड़ता है लेकिन जिसने अपने जीवन का लक्ष्य ये बना रहे बना रखा है कि जीवन में क्या काम करना है एकमात्र अपने शरीर को ही खिलाना पिलाना आराम देना है उसके अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं ये सारे जीवन क्या करते रहे कि बस अपना पेट भरते रहे शरीर को आराम देते रहे इंद्रियों का भोग करते रहे तो ये क्या है ये तो वो जीवन जीवन थोड़ा ही हुआ ये तो जीवन मृत जीवन हुआ डेड लाइफ एक प्रकार का मृत समान जीवन हो गया जिसके लिए जीवन का कोई लक्ष्य नहीं शरीर ही पोषण करता रहा तो तन पोषक और निंदक कुछ लोग जो है क्रोधी स्वभाव इसी प्रकार के क्रोध के साथ साथ निंदा किया जाती है कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं चाहे क्रोध कम करें लेकिन निंदा ज्यादा करते हैं कुछ लोग जो है वो निंदा चाहे कम करें लेकिन क्रोध ज्यादा करते हैं तो वो तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर की बात तो भाव निकल गई है जहाँ द्वैत बुद्धि होगी अपना पराया व्यक्ति में राजद्वेष आदि प्रबल होगा वहाँ पर दूसरे की निंदा भी करेगा और अपने आप को ठीक समझेगा कि हम ही बस ठीक हमारे ही विचार सही हमारा जीवन सही बाकी सब लोग गलत कोई सही नहीं सबकी निंदा करेगा और निंदा का पीठ पीछे की निंदा और सामने जो आकर के क्रोध करेगा उसके साथ में गालियां देगा बुरा कहेगा उसके ये क्रोध भी प्रकट करेगा तो ये निंदा करने वाले व्यक्ति हैं वो भी मृत तुल्य है माने उनके भी उनके जीवन के कुछ मूल्यों को जानते नहीं जो निकट मूल्यहीन व्यक्ति हैं वो जो जानते नहीं कि वे ऑफ लाइफ क्या है जीवन कैसे दिया जाता है क्या सभ्यता है क्या संस्कृति है क्या आध्यात्मिकता है ये कोई शिक्षा उनके जीवन को उनको प्राप्त ही नहीं हुई ऐसे व्यक्ति जो है मरण तुल्य है अर्थानी और ऐसे लोग अधिकानी ये सभी लोग पाप की खान है जितने जिनका वर्णन कर गए ये सब पापी है अजमन मन पाप अधिकान खान मैंने उनकी खान मान जहाँ आज पाप ही पाप भरा हुआ है अज का भंडार पापी पापी है तो जो सब प्रकार से सोते जागते पाप करने ही प्रवृत्ति रहते हैं वो भी मना तुल्य है जो अनैतिक है जो आचारी है भ्रष्टाचारी है पापाचरण में प्रवृत्त है दूसरे लोगों की निंदा करने वाले हानि पहुंचाने वाले हैं ठगने वाले हैं लोगों को हत्या करने वाले हैं मृषा वचन बोलने वाले हैं ऐसे सबसे पापी लोग हैं जैसे ये पापी लोग हैं इनका कोई जीवन जीवन है अगर जीवित लोगों के समाज में संसार में गणना की जाए तो शायद उंगलियों को गिनने लायक ही थोड़े जीवित व्यक्ति मिले बाकी सब दुनिया में मरे मिले मिलेंगे मरे मिलेंगे के माने सब प्रेत जैसा जीवन जी रहे हैं जैसे प्रेत भटकते रहते हैं हाँ, प्रेतों को सुना होगा प्रेत क्या है ये भटक रहा है कहीं पेड़ पर बात कर रहा है कहीं नदी में कहीं घाट पर कहीं कहीं प्रेत जैसे भटकते रहते हैं जगह जगह इस प्रकार से भारी प्रेत ये मनुष्य जो है भटक रहे हैं कहीं लड़ रहे हैं कहीं सड़क रहे हैं कहीं मार रहे हैं कहीं काट रहे हैं कहीं मुकदमा लड़ रहे हैं कहीं निंदा कर रहे हैं कहीं दम दिखा रहे हैं कहीं अहंकार दिखा रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं बस यही भी जीवन उनका व्यतीत हो रहा है ये सब ये सब वैताली जीवन है वैताल जैसा जो है वो जीवन संसार में जी रहे हैं वो कोई जीवित प्राणी नहीं मनुष्य नहीं है वो क्योंकि जीवित क्या कहा गया जीवन का गौरव जो चौदह पच्चीस प्रकार के जो है इनमें जो मानवीय जीवन का गौरव होना चाहिए वो कहीं है ही नहीं जिस आधार पर व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं मनुष्य हूँ उस मनुष्यता का गौरव इनमें चौदह प्रकार के व्यक्तियों में किसी में नहीं मानवता भी ये निकट कोटि के प्राणी है तो ये चौदह इसलिए गिनाए जिससे कि व्यक्ति अध्यात्म शास्त्र है हमें स्वयं देख करके अपने आप अप्लाई करके देखना चाहिए टेस्ट करना चाहिए जैसे कि ये टेस्ट पेपर हो चौदह गिना दिए गए इनमें चौदह में से हमारे अंदर कौन कौन सी दुर्बलताएं हैं कौन कौन सी कमी है जिनको हो उनके अपने आप अपने अंदर दूर करने की कोशिश करें स्वयं तो अपने प्रयास से करें उनको समझने की ये दुर्बलताएं हैं इनका समाप्त होनी चाहिए और अपने आप से दूर न हो तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि कमजोरियां दूर हों जैसे क्रोधा भी है निंदा भी है इस प्रकार से ये जो जो अपने आप से नहीं बनते दिखाई देते हैं तो उनको भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इन कमियों से इन दुर्बलताओं से हमारे दूर करो जैसे कि हमारा विकास हो जीवन सार्थक बने ऐसे भगवान से बार बार प्रार्थना करें तो भगवान की कृपा प्राप्त हो तो ये सिर्फ इनका विनाश हो सकता दूर हो सकते हैं <clears throat> कुछ इस प्रकार के इसमें है जिनके के लिए व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार उसको ये गति प्राप्त होती है जैसे संकट रोगी सदा रोग बस अब सदा रोग बस व्यक्ति जो है शास्त्र के अनुसार यही है कि पूर्व काल में उसने व्यक्ति ने पूर्व जीवन में ऐसे पाप किए जिसे मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ लेकिन वो सदा रोगी ही रहता है तो उसके पापों का परिणाम है इसलिए उसे छुटकारा करने के लिए पापों से छूटना चाहिए पापों से छूटने के लिए प्रायश्चित कहे गए हैं अनुष्ठान कहे गए हैं नाम इत्यादि है पूजन है अभिषेक भगवान आदि के हैं आराधना आदि है ये सब के सब सात प्राध्यन है पाठ आदि है ये सब पापों को दूर करने वाले हैं इनको जानना चाहिए पाप कैसे दूर होंगे तो उनके अनुष्ठान करे उनका और पापों से छुटकारा पावे तो जहाँ पूर्व पाप क्षीण होंगे वहाँ व्यक्ति के इस प्रकार से संतक रोग इत्यादि जो बराबर सदा रोग हैं ये उसके दूर हो सकते हैं <clears throat> इस प्रकार के उपाय हैं इनके सबके इन सभी जो दुर्बलताएं व्यक्ति की है उनको दूर करने के उपाय भी तो बस ये जानना था कि जीवित सब प्राणी तो अस विचार खल बदन तो ही तो हम जैसे कहते हैं बस यही विचार करके कि बस इन्हीं में से तुम्हारी भी गिनती आती है इसलिए तुम तो जैसा पहले कह दिया कि मुझे बधो नहीं नहीं तक मनसाई मरे हुए को मारने में कोई मानता नहीं है तुम तो मरे के बराबर हो गए अगर हम उठा के जमीन में पटक भी दें तुम्हारी सेना मार भी जाए सीता जी को ले भी जाए तो ये कोई बड़ा भारी पुरुषार्थ की बात नहीं है मरे को मारने में क्या रखा है ऐसे विचार खर बधो न तो ही ऐसे विचार करके है दुष्ट मैं तुझे मारता नहीं अब जनरेश उपजावत मोही लेंगे तो आप तुम्हारे और जो वो हमको क्रोध मत दिलाओ अंजन कहते क्रोध दिलाए तो फिर हो सकता है ये कि ज्यादा क्रोध हो तो हमें तुम्हें नहीं मारना चाहिए तो फिर भी मारने की बात आ जाए ऐसी स्थिति न आने पावे इसलिए तुम जो है वो चुप रहो अंजन ने जब इस प्रकार से कहा तो रावण को चुप छोड़ेगा रावण कोई ऐसा थोड़ी जो मान जाए बात को चाहे समझा करके कहो चाहे तर्क दे करके कहो और चाहे जान चमट करके कहो रावण किसी प्रकार से मानने वाला नहीं मंदोदरी पैर छू करके अंचल फंसा करके समझाती है तो भी रावण नहीं मानता और अंगद उसको इस प्रकार से फट फट कहता हुआ उसको दर्द दिखाता है तो भी रावण नहीं माने जो नहीं मानने वाला है वो व्यक्ति चाहे ऐसे कहो तो नहीं माने वैसे कहो तो नहीं माने ऐसा रावण कहते सुन सको यही विमूढ़ात लक्षण है तो कहते हैं कि सुन सको का निश्चरना था तो निश्चरनात्मक रावण को भी क्रोध आया और वो ऐसे कहने लगा कि अगर दर्शन बीज तो हाँ था रावण के भीतर हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोध जब प्रकट हुआ तो क्या हुआ कि वो दांत किटकिटाने लगा दांत किरने लगता ये दांत से दांत रगड़ करके दांतों में चीज की आवाज उत्पन्न होती है उसमें उत्पन्न की और मिंजत हाथा दोनों हाथों की हथेलियां रगड़ने लगा मान ये क्रोध प्रदर्शित करने का ऊपरी रूप है वो दिखाई देने लगा क्रोध का कहने लगा कि रे कपि अथम मरण अब चाहते कि आप कहते तू बानर है और नीच बानर तू अब मरना चाहता है इसलिए इस प्रकार की उद्दंडता की बातें करता है और कहते छोटे बदन बात बड़ी कहा कि तुम दूत हो तो दूत की तरह तुम्हें बात करनी चाहिए एक राजा को इस प्रकार से सब इत्यादि करके तुम बोलोगे और इस प्रकार से उसको मारने की धमकी दोगे तो ये तुम्हारे जो है वो अधिकार के बाहर की बात है इसलिए तुम छोटे बदन बात बड़ी कहा छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हो ये भी एक मुहावरा है छोटी मुंह बड़ी बात करना उसका प्रयोग करते हैं जब कोई अपने से बड़े के सामने इस प्रकार से उसको शिक्षा देने की कोशिश करता है उसको डांटने फटकारने की बड़े को डांटने फटकारने की कोशिश करता है तो उसको छोटे मुंह बड़ी बात करना कहलाता है और ये निंदनीय ऐसा नहीं करना चाहिए इसलिए रावण अपने आप को समझता है कि मैं राजा हूँ और ये दूत मात्र है इसलिए इसको हमारे सामने मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक राजा के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए और बोलता है तो ये क्रोध का भाजन हमारी बनेगा तो कहते हैं कट जलपति जल कपी बल जाते कहते हैं कि, कट जलपति माने कड़वी बातें करते हो और जलपना के माने मन गलत बातें तुम बोलते चले जा रहे हो इनमें कोई तुम्हारी बातों में तब तो नहीं है ये जल्पना कहलाती मन गलत बातें बोलते जाना ये जल्पना कर रहे हो कड़वे वचन बोल रहे हो तुम तो जड़ कभी बल जाती जिसके बल पर तुम ये सब बोल रहे हो बल प्रताप अपने तेजनता के उसमें तो कोई बल प्रताप तो है ही नहीं तो अपने आप को कहते हो मैं उनका दूत हूँ और मैं उनके दूत होकर के विवेचना कर सकता हूँ तो उनकी सामर्थ्य के बल पर तुम बोल रहे हो तो जिसकी सामर्थ्य के तुम दुहाई दे रहे हो उनमें तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं अब देखो रावण को नहीं दिखाई देता भगवान राम की सामर्थ्य कहते न उनमें बल है न उनमें प्रताप है न बुद्धि है न तेज है ये सब उनमें कुछ नहीं ऐसा दिखाई अब देखो बात यह है कि जहाँ जो सूक्ष्म तत्व है वो शक्तिमान है और जो स्थूल है वो उसके अधीन है और उसी की शक्ति से शक्तिमान है यह आज विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया इसमें जितना विशाल रूप सूर्य का चंद चमाता हुआ दिखाई दे रहा है इसके भीतर एक सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है और कुछ नहीं तो कम से कम एटमिक एनर्जी परमाणुओं का विस्फोट और उसमें उसके भीतर जो कुछ जो है इलेक्ट्रॉन प्लोट्रॉन और उनका उसके भीतर भी जो जो कुछ है उनका विस्फोट होता रहता है उसके विस्फोट के कारण से सूर्य में इतना ताप उत्पन्न होता रहता है तो अब उसके भीतर कोई सूक्ष्म शक्ति विद्यमान कारण से इतना विस्फोट होता है और तो दिखाई देता है जो स्थूल सृष्टि में जितनी स्थूलता दिखाई देती है इसके सबके पीछे भीतर वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है जिसके कारण ये स्थूल जगत और ये रूप सत्य का हुआ चाहे ये लोग परमात्मा तक न पहुंचे हो पहुंचे हो तो अभी सूक्ष्म शक्ति तक तो पहुंचे ही पहुंचे तो नियम ये है कि सूक्ष्म जो तत्व जो है वो स्थूल तत्व से ज्यादा शक्तिमान है चेतन तत्व जो है वो जड़ तत्व से अधिक शक्तिमान है लेकिन जब विमूढ़ व्यक्ति होते हैं मूर्ख व्यक्तियों के समझ में आता है कि जो स्थूल वस्तु है उसी में ताकत है जो सूक्ष्म है वो तो सूक्ष्म है उसमें क्या ताकत होगी उल्टी बुद्धि उसकी काम करती है तो इसलिए रावण भी उसी तरह से बोलता है जो उसको भगवान राम राम राम जिनको कहते हो उनमें कहाँ पर कहाँ प्रताप कहाँ से ये सब बुद्धि बलित इत्यादि सब कहा अरे सारे संसार का बुद्धिबल थे तो भगवान राम की वजह से हाँ? और उसी के साथ उनमें कहा सब उल्टी बात उसको तो बिल्कुल विपरीत बात उसकी बुद्धि है तो कहता अगुण अमान जानते ही दीन पिता वनवास अब उसको दिखाई देता भगवान राम ने परमात्मा तत्व तो परमात्मा तत्व तो है ही नहीं और उसको तो उसकी सत्ता ही नहीं मानता है उसको फिर क्या दिखाई देगा कि परमात्मा तो नहीं दिखाई देगा तो राम ने एक मनुष्य एक मानव मात्र दिखाई देगा कि एक आदमी है तो सोचा है कितना भरोसे दिखाई देगा रावण को तो उसे दिखाई देता है कि अगुण अमान एक ऐसा आदमी जिसमें कि कोई गुण नहीं और अमान माने जिसकी की कोई प्रतिष्ठा भी नहीं ऐसा जान करके दीन पिता बनवास तो कहते हैं इनके पिता ने इनको बनवास तो दे दिया रावण को जैसे इंटरप्रेशन कहते हैं जब पिता ने दशरथ देखा कि ये ये हमारा लड़का ऐसा हो गया जिसमें कि कोई वो है ही नहीं कोई गुण है ही नहीं न बुद्धि है न बल है न विद्या है न सामर्थ है न योग्यता है न क्षमता है बिल्कुल बेकार का है लुंज पुंज है भगाओ भगाओ उसको यहाँ से निकालो ऐसे समझ करके उन्होंने बाहर बना दिया और फिर और सो तो दुख अब उनको राम को उस बात का दुख है कि पिता ने राज्य छीन लिया भरत को राज्य दे दिया और अब राम समझते हैं कि हमारा राज्य छीन गया बंद में निकाल दिए गए तो उस कारण से तो एक पहले दुखी थे और उसके बाद दूसरा दुख हमने दिया जब सीता हरण कर लाए तो सीता के प्रयोग में दूसरा दुख उसको हो गया अब वो जानता है कि संसार में सुख के हित यही है राज्य है स्त्री है यही सुख के हित सब होते हैं और क्या ये समझते राम के पास है नहीं रावण समझता की मेरे पास राज्य भी है मेरे पास स्त्रियां भी है इसलिए मैं सुखी हूँ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और जिनके पास राज्य है और न जिनके भी पास स्त्री है वो कार्य क्या है कुछ कुछ है इसलिए कहते हैं सो दुख अर्जुवती विरह और पुनः निस मम त्रास और दिन रात हमारे डर के कारण से डरता रहता है हमारा डर भी उसे बहुत तो भयभीत भी रहता है इस कारण से उसकी जिस, जिसकी कि तुम महिमा बहुत गाते हो उसकी दशा इस प्रकार की जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुष्य यानी जिस मनुष्य के बल के ऊपर तुम बदल मनुष्य अरे राम एक मनुष्य साधारण मनुष्य उसके बड़ा भारी बन